अवस्थाओं के विषय में अनेक स्थिति अनेक धाराएं अनेक गतिविधि जानी अब आप एक प्रयोग करके देखें कि क्या एक विषय पर हम अपने मन को अधिकार पूर्वक एकाग्र कर सकते हैं या नहीं क्या समझ में आया किसी एक विषय पर अधिकार पूर्वक हम अपने मन को स्थिर रख सकते हैं या नहीं अच्छा अब आप एक वाक्य लो ब्रह्म सच्चेद आनंद है ये वाक्य ले लिया और एक स्थिति है कि ओम सच्चिदानंद है साथ अर्थ को करना दूसरी स्थिति है कि ओम सच्चिदानंद है पाठ किया और अर्थ किया हे सर्वरक्षक ईश्वर है आप सत्य सदा रहने वाले नाश रहित है चेत चेतन है आनंद स्वरूप है और फिर पाठ किया तो आप मानसिक रूप में ये करके देखें कि ओम सच्चिदानंद है इसका पाठ करना और रुक करके अर्थ करना जैसे ओम का अर्थ करेंगे आप सर्वरक्षक सत सदा रहने वाला विनाश रहित चत चेतन आनंद सुख स्वरूप तो मानसिक रूप में आप ये जप करके देखेंगे और जप करते हुए आप ईश्वर समर्पित रहने का भी कार्य करेंगे अब आरंभ करो आप मानसिक आप बार बार जप करेंगे ओम सच्चिद आनंद है पाठ किया और फिर हे ईश्वर है आप सर्व रक्षक सत्य सदा रहने वाले चित चेतन आनंद सुख स्वरूप आप प्रयोग करके देखें अब परीक्षण करना है कि ओम सच्चिदानंद का पाठ करते हुए अर्थ सहित पाठ करेंगे और पाठ भी करेंगे और ईश्वर समर्पित रहेंगे अब मानसिक रूप में ये क्रिया आप करके देखिए आरंभ कीजिए ध्यान से देखते रहिए इस प्रयोग का परीक्षण आपने किया होगा तो आप में से कोई अपना परीक्षण बतलाएगा कैसा रहा हाँ जी विशाल जी बोलो स्वामी जी बाहर की जो ध्वनिया पक्षियों आदि की आ रही थी उसमें मन न जाए उसके लिए मन में उच्च स्वर से जाप किया हम्म। जैसे जोर से चिल्ला रहा हूँ हम्म, हम्म, इस प्रकार से तो उसका वो, उसका दबाव रुक गया होगा जी एक बार स्मृति वृत्ति उठाई और फिर उठाते ही रोकिया कितनी देर लगी एक सेकंड के लिए उठी थी उठा रोक दी उसको फिर रोक दिया और मन में ये विचार भी बना रहा कि इस प्रक्रिया के बाद जब स्वामी जी पूछेंगे क्या स्थिति रही तो उसमें अच्छी अच्छे से अच्छी स्थिति बनाने का प्रयास करता रहूं हाँ जी संदीप जी तीन चार बार लगभग <clears throat> बीच में वृत्तियां उठाई चार बार तो उठाने के पीछे कितने काल के पीछे रुकी हाँ, उठते उसको रोक दी हाँ, हाँ जी ऐसे लगभग पांच छह बार वृत्तियां उठाई स्वामी जी और जैसे उठती थी वैसे मैं उसको रोक देता आप बोलिए हाँ, वृत्तियां उठाई स्वामी जी कितनी बार एक ही वृत्ति बनी रही बार बार जैसे लघु शंका का दबाव अनुभव कर रहा था बीच अच्छा अच्छा तो अच्छा और आप बोलो वृत्तियां नहीं उठने थी लेकिन जो बाहर के कुछ ध्वनि सुनाई दे रहे थे वो, बना रहा हर समय लेकिन जो जब चल रहा था इसकी प्रधानता रही और बीच बीच में बाहर की दुनिया भी हम्म, मतलब सुनते रहे हाँ जी बाहर की ध्वनि तो सुनाई दी परंतु उसके ऊपर लक्ष्य नहीं दिया उसको वृत्ति नहीं बनाया सुनने में तो आई और स्मृति वृत्ति भी दो तीन बार उठाई अच्छा पाठ करना एक अर्थ का विचार करना दो और ईश्वर समर्पित रहना तीन हाँ जी स्मृतियां तो उठाता रहा है इस और साथ ही उसको दबाता भी रहा इस कारण से ईश्वर प्रणिधान ज्यादा देर तक नहीं बन सका अच्छा अर्थ का विचार मंत्र और अर्थ साथ साथ करता हाँ जी स्मृति आदि नहीं उठाया पहले ओम सत्यानंद इसका जप किया फिर उसका क्रमशः अर्थ का पाठ किया लेकिन पक्षी आदि की आवाज बीच बीच में सुनता रहा और यदा कदा ये भी होना आता रहा कि इस चित्र को गुण एकाग्र रखूंगा और जब स्वामी जी पूछेंगे तो उन्हें अच्छी स्थिति ही बनाने का प्रयास करूंगा साधक जी बोलेंगे एक बार स्वामी जी ईश्वर समर्पण हट गया अच्छा प्रारंभ में मंत्र पाठ करके रुक करके अर्थ किया फिर आगे साथ साथ अर्थ किया हाँ। एक बार जब बंद हो गया समर्पण होने के प्रयास अच्छा हाँ जी ध्रुवदेव जी स्वामी जी शुरू शुरू में तो वृत्ति उठते ही रोक दी फिर बाद में अंत अंत समय में वृत्ति उठी थोड़ी देर के लिए और ईश्वर समर्पण भी बीच बीच में बनता रहा हम्म। लेकिन वो टूटता गया हाँ जी शब्द सच्चिदानंद और उसका अर्थ दोनों का तालमेल बना रहा लेकिन ईश्वर प्रणी स्थान नहीं बन पाया और बीच में अंतिम में विचार आया हम्म। लेकिन रोका नहीं तो आपने जब ध्यान से करो तब तक वो विचार चलता ही रहा <laughs> <laughs> जब तक रोका नहीं फिर फिर ध्यान दिया होगा प्रक्रिया पद्धति को स्पष्ट रूप से समझिए ओ सच्चिदानंद ये धुन के रूप में है और ये धुन के रूप में मन से भी की जाती है और ओम सच्चिदानंद है बिना धुन के रूप में भी ये पाठ दोनों प्रकार से हो सकता है पाठ की स्थिति तो ये है जब पाठ करते हैं और फिर रुकते हैं फिर हम ईश्वर को संबोधित करते हैं हे ईश्वर आप सर्व रक्षक सत्य सदा रहने वाले चेत चेतन आनंद सुख स्वरूप है ओ सच्चिदानंद है हे ईश्वर है आप सर्वरक्षक सत सदा रहने वाले चित चेतन आनंद सुख स्वरूप ओ सच्चिदानंद ये प्रक्रिया चलती है आपको समझ में नहीं आई हो तो पूछो ईश्वर समर्पित कहते हैं हम्म। तो ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करना है यही है ना हाँ जैसे आप ऐसा समझेंगे कि शब्द प्रमाण से या अनुमान प्रमाण से प्रत्यक्ष को हटाइए आप ईश्वर को अपने पास अर्थात व्यापक रूप से विद्यमान मानते हैं सर्वज्ञ मानते हैं शब्द प्रमाण से और शब्द प्रमाण से अनुमान प्रमाण से सर्वत्र व्यापक अपने पास व्यापक मानते हुए जो ईश्वर को संबोधित करते हैं यद्यपि आप देख नहीं रहे पर शत प्रतिशत ये मानते हैं कि ईश्वर निश्चित रूपेण मेरे पास विद्यमान है अच्छा ऐसे जच पाता है या नहीं कुछ जचता है या नहीं देखो अपना अनुभव एक तो संशय होना एक भ्रांति होना और एक जम करके विचार ही नहीं कर सकना विक्षिप्तता आ जाना कुछ समझ में आया जब निर्णय करने लगे ना ईश्वर का तो खलबली विक्षेप जैसा रूप आया वो अधिकार पुरुष को रोक करके शब्द प्रमाण से ईश्वर सर्वव्यापक ऐसा मानता हूं ऐसा ही है और ऐसे ही मान के मैं चल रहा हूं एक तो ऐसे बना लेना एक बनाने लगे तो उसमें उथल पुथल हो जाना संदेह हो जाना अब ऐसी स्थिति बनाने लगे तो दूसरे विषय बीक्ष में प्रवेश दूसरे विषयों का प्रवेश हो जाना कौन सी स्थिति रहती जैसे आप अर्थ करेंगे हे ईश्वर है अब बोल रहे हैं आप सर्वरक्षक तो आपके मन में शत प्रतिशत बैठा हुआ है ईश्वर सर्वव्यापक सर्वज्ञ ऐसा मान के बोल रहे हैं आप एक अथवा नहीं आपके मन में नहीं बैठ रही है बात इतना तो समझ में आया हाँ जी बोलो रणबीर क्या समझ है कि इस वाक्य को बोलते हुए मन में शत प्रतिशत भावना बनी हुई है कि ईश्वर वास्तव में हमारे सर्वरक्षक है हाँ। एक में भावना नहीं बन पाती केवल मंत्र पाठ करते जाते हैं हम्म। तो ये दो स्थितियाँ होती है स्वामी हाँ। एक बात क्या ये बात कहते समय मन पर अधिकार रहता है या नहीं एक भिन्न स्थिति साधक जी क्या समझ में आया जब ये वाक्य बोलते हैं उस वक्त मन पर नियंत्रण रहता है कि नहीं ये रहता है तो जो का त्यो जमा दिखाई देगा आपको हे ईश्वर आप सर्व रक्षक है कोई विचारधारा नहीं आएगी बाहर की और आप जब अर्थ करने लगेंगे तो विचार उठा लिया आपने विचारों का प्रवेश होगा तो फिर रोकेंगे आप तो फिर प्रवेश हो जाएगा फिर रोकेंगे तो फिर भी प्रवेश बीच बीच में प्रवेश होता रहेगा अनधिकृत मन के द्वारा विचारों का उठाना इसको देखो कैसा रहता आप प्रयोग करके देख सकते हैं जब हम ये कहने लगे हे ईश्वर है आप सर्व रक्षक ये जब कह रहे थे तो विचार हमने उठा लिया कोई भी स्मृति वृत्ति या वर्तमान की आ गई फिर सत्य नाश रहित है एक तो यही मन बना रहा सत्य है नाश रहित है ये ज्यों का त्यों बना रहा एक इसके करते समय विचारों को उठा लिया दोनों भिन्न भिन्न स्थिति है या नहीं है फिर कहा आप चित्त चेतन हैं और हमारे मन में स्थिति बनी रही ईश्वर को संबोधित कर रहे हैं आप चित्त अर्थात चेतन है आनंद स्वरूप सुख स्वरूप है इनका उच्चारण इनका अर्थ और ईश्वर हमारे मन में बैठा रहा ईश्वर ही मन में राज को हम संबोधित करते हैं एक इन बातों को करते समय बीच में विचार उठाते रहे आपका क्या अनुभव रहता है बीच में विचारों को न उठना उठाना ये स्थिति एक है और बीच बीच में विचारों को उठाते रहना रोकते रहना उठाते रहना रोकते रहना ये दूसरी स्थिति क्या समझ में आता है आपको कौन सी दिखाई देती है तो अभी जब किए थे तो विचारों को तो उठने ही नहीं देते केवल अर्थ में ही जमे रहे थे कभी कभी व्यक्ति के विचारों में ये घटनाएं घटती रहती हैं उसके बीच बीच में विचार वो लाता रहता है और वो सूक्ष्म होते हैं और वो ये मानता है कि मेरा मन स्थिर है कोई विचार नहीं आ रहा रवि जी जैसे सुना रहे थे सुना था ना आपने हैं कि ए, मेरा मन मतलब कहीं नहीं जाता आपको कौन सी स्थिति दिखाई देती है दोनों हाँ जी विशाल मुख्य रूप से दूसरी वाली स्थिति रहती है विचार उठते रहते हैं रोकते रहते हैं उठते रहते हैं रोकते हाँ ठीक बात है शंका स्वामी जी हाँ अभी जो जब करते हैं स्वामी जी ओ हे ईश्वर आप सर्वरक्षक हैं जब इस अर्थ को बोलते हैं और इससे जो भावना बनती है स्वामी जी कभी कभी स्थिति अच्छी होने पर इसी भावना में रहने की इच्छा होती है क्योंकि वो स्थिति अच्छी लगती है इस स्थिति में रहने की रहने की इच्छा होती है हम्म। तो क्या ऐसे कर सकते स्वामी जी फिर आगे जब करने की इच्छा विशेष नहीं होती आगे क्या कुछ भी नहीं करेंगे आप जो सर्वरक्षक की जो अनुभूति स्वामी जी भावना जिसको बोलते हैं हम्म। सर्वरक्षक जब ऐसा गाते हैं तो सर्वरक्षक मन में उसको छाप पड़ता है और उस प्रकार की भावना बनती है और उसकी अनुभूति होती है अच्छा एक बात रखिए आप सच्चिदानंद को हटाइए आप अकेले ओम पा जाइए अधिक शब्द होते हैं तो कार्य बढ़ता है ये तो आप जानते हैं या नहीं जानते थोड़े शब्द होते हैं तो थोड़ा कार्य होता है साधक की अपनी योग्यता के आधार पर उसको एक छोटा शब्द छोटा खंड एक जैसे ओम है उसका पाठ करने और अर्थ का विचार करने ईश्वर समर्पण समर्पण करने में सुविधा होती है और यदि वही व्यक्ति ओम सच्चिदानंद तीन शब्दों को और जोड़ दे तो उसको कठिनाई होती है या नहीं होती हम्म होती है आप अनुभव करेंगे तो जब व्यक्ति इतना ही समर्थ है इतनी शक्ति है इतना ही मन पर नियंत्रण है तो वो एक पर अभ्यास करता है ओम पर करता है ओम पर तो ओम पर अभ्यास करता है वो ओ ओ और अर्थ करता है हे ईश्वर आप सर्व रक्षक हैं हे ईश्वर आप सर्व रक्षक हैं जब ओम पाठ करके हम कहते हैं आप सर्व रक्षक हैं तब बीच बीच में विषय उठा लेते हैं ना आप या नहीं उठाते जब स्थिति निम्न रहती है तो विचार उठा लेते हैं स्वामी जी हाँ जी बोलो अपना अपना क्या उदय जी बोलिए क्या स्थिति रहती है विचार उठा लेते हैं जैसे आपको ये कहा जाए आप आधा मिनट चौथाई मिनट या एक मिनट केवल ओ हे ईश्वर आप सर्वरक्षक हैं ओ हे ईश्वर आप सर्वरक्षक हैं अच्छा यदि बोल के करें तो बाहर कौन सा सुविधाजनक आपको कौन सा लगता है बोल के बोल के सरल है या मानसिक सरल है से बोलना सरल है सरल हम्म? अब दो धाराएं मिलेंगी एक कहेगा मानसिक सरल है और एक कहेगा बोल के जैसे हम बोलते हैं ओ हे ईश्वर आप सर्व रक्षक है ओ हे ईश्वर आप सर्व रक्षक है ऐसे पाठ करेंगे तो ये सरल रहेगा किसी को ये सरल होगा हुँ? हम्म? अच्छा प्रयोग करके देखो ओम का बोल के ओ सर्व रक्षक बोलो अपने अपने ध्यान देना चाहिए आगे पीछे कोई किसी के मिला के बोलने की बात नहीं है बोल के करो फिर बोलो हाँ जी रणबीर जी बोलेंगे कैसी स्थिति रही ध्वनि से बाधा थी स्वामी जी हम्म? अच्छा अकेला बोले तो अकेला ही केवल बोले तब तो हुँ? हम्म? अकेले बोलने में कुछ भिन्न स्थिति होगी अच्छा ये बताओ आप जब बोल के करेंगे और एक मानसिक करेंगे तो बोल के करने में किस किस को सरल दिखता है बताओ बोल के करने में एक दो तीन चार पांच और मानसिक करने में किसको सरल दिखता है एक स्थिति और सारे मिलके बोलने जैसे अब बोल रहे थे इसमें और अकेले बोलने में कौन सा सरल अकेले अकेले बोलने में सर है अच्छा लगता है <laughs> अच्छा सामूहिक रूप में आपको अच्छा लगता होगा ये जो आप पाठ और अर्थ और समर्पण नहीं कर पा रहे इसके अंदर क्या क्या कारण है इसकी गवेषणा इसकी खोज करके देखो ये क्यों नहीं हो पा रहा जब लोक में एक कार को मोटरसाइकिल को व्यक्ति अधिकार पूर्वक चलाता है तो हम मन को अधिकार पूर्वक ऐसा क्यों नहीं कर पाते कौन बताएगा कारणों को हाँ जी ईश्वर से प्रेम श्रद्धा कम है एक कारण ईश्वर के प्रति प्रेम श्रद्धा कम होना एक कारण अच्छा और भौतिक विषयों के प्रति अधिक आकर्षण अधिक आकर्षण है और बोलो मन के स्वरूप को ठीक प्रकार से न समझ पाना उसको जड़ न मान करके चेतन मान लेना एक और बताओ जैसे करते हैं ओम सर्वरक्षक तो ये बात मन में नहीं बैठती कि वो हमारी रक्षा किस प्रकार करता है हाँ तो ये तो जब करने से पहले जानना पड़ेगा आपको रक्षा करता है और कैसे करता है ये दोनों बात पहले जानी हुई होनी चाहिए अर्थात ज्ञान विज्ञान की न्यूनता हम्म। तो आपको रक्षा करता है इसका पता नहीं है और कैसे करता है इसका भी पता नहीं है ये इसकी कमी है और बोलो अभ्यास की न्यूनता इसमें जो बाधाएं हैं वो सारी परिज्ञात होनी चाहिए इसमें इन बाधाओं को हम जानते हैं और जो जो बाधा हमारे द्वारा उभारी जाती है हम ये भी जानते हैं कि इस बाधा को उभारने वाला मैं हूं नहीं तो वो नहीं रोक पाएगा जो ये बाधा उपस्थित होती है अन्य विषय उठाया जाता है उन बाधकों में स्वयं जीवात्मा एक बहुत बड़ा कारण है जब ये वो अनुभूति करता है कि मैं बाधक हूं मैं ये विचार उठा रहा हूं उस समय इसको रोक पाएगा और बातें जैसे हम जब ओम का जप करेंगे तो उस समय हम संसार को प्रलय जैसी अवस्था में ले जाएंगे मान के चलिए तो सफलता मिले नहीं ले जाएंगे तो कठिनाई जो की तो बनी रहेगी क्या समझ में आया देखो जब करते समय संसार को प्रलय अवस्था में रखना चाहिए जब हम प्रलवत अवस्था बना पाएंगे तो इसमें आपको सफलता मिलेगी नहीं बना पाएंगे तो बहुत कठिनाई होगी प्रश्न है हम्म। जैसे हमने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया और भावना की कि हे प्रभु आप हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित कीजिए तो उस समय संसार वो वापस आ जाता है हाँ भाई इसमें क्या क्या बातें हुई पहले तो वो संसार जब वापस आता है ना दोबारा उसको उसकी क्षमता इतनी बढ़ानी चाहिए कि वो संसार उठता दिखाई देता ना जहां उसको वहीं समाप्त कर देना चाहिए उसने पहले परीक्षा पूर्वक संसार को प्रलय जैसी अवस्था में कम प्रयास किया है बहुत कम वो बना पाया है बहुत कमजोर है उसकी वो जो प्रलवत अवस्था बहुत कमजोर है तो वो निर्बल है और निर्बल होने के कारण और वो एकदम उभार ली जाती है और ये भी सावधानी नहीं रह पाती जैसे उभारता है वो क्षमता नहीं है उसमें उभारते ही नष्ट कर देना मैं एक दृष्टांत देता हूं हमें ध्यान में बैठे हैं ध्यान में बैठते ही एक रूप की स्मृति आई हमने उठाई हमने उठाते ही समाप्त कर दिया उसको कुछ आई समझ में नहीं आई उठाते ही इसको समाप्त कर दिया नाशवान है जब उठाते ही इसको समाप्त किया हमने तो वो बाधा नहीं डालेगा इतनी क्षमता व्यक्ति में रहनी चाहिए कोई भी विषय उठ जाए स्मृति वृत्ति को ले रहे हैं हम कोई भी विषय जैसे उठा दिया सावधानी से तत्काल प्रलयत अवस्था के नियम को लागू करो निश्चित रूप ऐसा प्रलय था ही ऐसा प्रलय होगा ही संदेह नहीं है ये रूप पैदा हुआ है और नाशवान है तो उस समय आप तत्काल उसको नष्ट कर देंगे प्रलय जैसी अवस्था हम बनाएंगे तो प्रलय जैसी अवस्था बनाएंगे तो फिर आपको प्रभावित बिल्कुल नहीं करेगा उसका अभाव जैसा हो जाएगा यदि नहीं बना पाएंगे तो उद्वेग उत्तेजना पैदा करेगा वो स्मृति और वो स्मृति यदि उत्तेजना उत्पन्न करेगी तो आपका ध्यान जो एकाग्र करना चाहते वो नहीं जम पाएगा नहीं कर पाएंगे आप यहां पर दूसरा प्रयोग आप प्रलवत अवस्था तो नहीं बना पाए परंतु मन को जड़ समझने की क्षमता आप में है क्या समझे आप प्रलयवत अवस्था तो नहीं बना पाए लेकिन मन को जड़ समझने की योग्यता है योग्यता है तो वो क्या करता है मैंने उठाई स्मृति अब नहीं उठाऊंगा नहीं उठाऊंगा मन जड़ पदार्थ है मैं चलाता हूं इसका प्रयोग करेगा तो फिर रोक देंगे आप स्थिति कुछ समझ में आया हुँ? हम्म? दूसरी वाली में अधिक जो है सुविधा होती है कौन से में मन को मैं चलाता हूँ और मैंने उठा दी थी अब मैं नहीं उठाऊंगा हाँ इसमें क्या होता है रोक दिया रोक जान रोक दिए जाने में सफलता होती है पर वो पहले वाली प्रलय स्थिति नहीं बन पाती हाँ, वो उसको प्रलभत अवस्था बनाना अति सूक्ष्म है पर वो इससे बहुत सरलता उत्पन्न कर देता है अंतर दोनों में बहुत सूक्ष्म है उसको बना देना और बया रखना और तत्काल बना देना ये परिश्रम साध्य है परंतु ये जो हमने जड़ समझ के रोका इसमें जो बल लगाना पड़ता है परिश्रम करना पड़ता है उसमें उसकी स्थिति आने पर इतना परिश्रम नहीं करना पड़ता इतना उद्वेग उत्पन्न नहीं होता उसमें एकदम सारा सफाई हो जाती है <laughs> इसमें भी दो बातें हैं किसी विशेष में कम बल लगाना पड़ता है या अप्रयास होता है मन को मैं चलाता हूँ ये वाली बात को समझने में पर स्थिति विशेष में ज्यादा बल लगाना पड़ता है हम्म। ऐसा भी देखा गया है हम्म। तो इसमें मन जड़ पदार्थ है मैं चलाता हूं इसमें हमारे विषय जो के तो बने रहते हैं बने हुए विषयों से हमने मन को रोक रखा है ध्यान देना विषय उपस्थित है हम भी उपस्थित हैं विषय मन को चलाने वाले और विषय भी उपस्थित है तो जब विषय भी उपस्थित है ना हम भी उपस्थित है तो इतनी इतनी भाग दौड़ अंदर की हमारी और बाहर की बहुत अधिक रहती है कितनी संख्या है दुनिया के विषयों की हुँ? हम्म? और चलाने वाला भी विद्यमान है और जिन पर चलाया जा रहा है वो विषय भी विद्यमान है तो आलंबन की स्थिति में तो बड़ी कठिनाई पड़ती है साधक जी और जब आलंबन ही नहीं है तो <laughs> नहीं समझ में आ रहा हाँ जी संदीप जी ना देखने वाला है उसको मिटा दिया हमें ना दिखने वाले हैं उनको मिटा दिया हमें तो ये संचार कैसे होगा ये व्यापार कैसे होगा कि वो उठाने वाला विषय को उठाए उठा के ले आए ये होगा ही नहीं कुछ तो समझ में आया होगा है हाँ जी मन को जड़ समझ करके इंद्रियों के विषयों से हटा करके वृत्तियों को रोक दिया क्या ये अवस्था अवस्था नहीं है ना वहां विषय वहां विषयों का विद्यमान मानता हुआ विषय है और वो रोक रहा है ये मन को जड़ समझने की मन रुक ही गया विषय है ही नहीं सामने कुछ भी ना ना तो क्या ये ठीक वैसी वैसी अवस्था नहीं है जो प्रलय होती है ना ना अगर ऐसे नहीं है तो फिर मन रुका ही नहीं है ना ना ना हम ये मान के चल रहे हैं साधक जी मेरे पास बैठे हैं साधक के वैसे मैं नहीं सोचता बैठे हैं और उस और साधक जी को मैंने परले में बदल दिया है ही नहीं साधक जी नहीं हम कुछ न कुछ बन ही जाते हमने तो विषय को परले में बदल दिया ऐसी परले होती है और परले की स्थिति साधक जी की जरूर थी अब भी ये ऐसी आ रही है तो उसको बिटा देना स्थिति भिन्न है और साधक जी के होते हुए भाई साधक जी बैठे हैं और मैं नहीं चलाऊंगा साधक जी के मन पर साधक जी पर मैं अपना मन नहीं चलाऊंगा ये भिन्न स्थिति है तो प्रलयावस्था बनाते तभी तो ऐसा है कि संसार है और हम संसार को नहीं ना ना ना उसमें भिन्न स्थिति है संसार को हम जब ये भी विवेचन करेंगे ना संसार कार्य रूप है और ये प्रलय स्थिति इसकी ये थी और ये अब कार्य रूप है और ये सारा संसार उस प्रलय में ऐसी अवस्था में रहता है प्रलय में जैसी स्थिति में रहता है ना वैसा हमने मन बनाया प्रलय की जो स्थिति होती है ना प्रत्येक पदार्थ की ऐसा हमने मन बनाया ऐसी बुद्धि बनाई सभी पदार्थों के प्रति ये तो उसमें हम ये विवेचन नहीं करते कि हमें वर्तमान संसार के होते हुए और उसको प्रलवत मान के चल रहे हैं ये ठीक नहीं है या ठीक है ऐसा विचार नहीं करते यदि ये करना हो तो जिस व्यक्ति की ऊंची स्थिति हो चुकी है अब दूसरे ढंग से चलता हूं बहुत दृढ़ अवस्था हो गई है समझे वो क्या करता है कि प्रलवत अवस्था बनाए रखता है और ये विवेचन करने में समर्थ है कि प्रलय में ये स्थिति होती है ये प्रलय में अवस्था जो प्रलय जैसी अवस्था मैंने बना रखी ये कार्य जगत को कार्य जगत है वो ये मानता है पर मैंने इसकी प्रलय अवस्था बना दी है मैं उस प्रलय जैसी अवस्था में देख रहा हूं पर कार्य जगत है मैं प्रलय की स्थिति में इसको देख रहा हूं तो उसके बाधा नहीं डालेगा वो अच्छा नया साधक जो वैसे सोचता है ना नया नया साधक जो वैसे सोचेगा कार्य जगत है और मैं इसको प्रलय जैसी अवस्था में काल रूप में देख रहा हूं उसके लिए बाधा खड़ी होगी नए व्यक्ति के लिए रोकना बड़ा कठिन पड़ता है उदाहरण के रूप में ले लो जब आप आंख बंद करके सोचेंगे ना इसी स्थिति को तो सरल हो जाएगा जब आंख खोल के सोचेंगे जैसे आप बैठे हैं मैं ऐसा बनाऊं तो जब कठिन होगा कुछ समझ में आया आंख बंद करके प्रलवत अवस्था बनाइए आप आंख बंद करके पूरे संसार की तो इसकी प्रलवत अवस्था बनानी सरल रहेगी अच्छा जब आंख खोल करके जब बनाएंगे तो बहुत कठिन हो जाएगी एक और कंडीशन जो है कि प्रलयवत अवस्था बनाकर वृत्ति निरोध करने में हम सहायता लेते हैं प्रलयावस्था बनाने का प्रयोजन है वृत्ति निरोध करना हम्म। और हमने मन को जड़ समझकर और इसका चलाने वाला मैं हूं मैं इसको नहीं चलाऊंगा तो वृत्ति निरोध हो गई हम्म। ये वृत्ति प्रलयवस्था बनाकर चाहे वृत्ति निरोध करो चाहे वृत्ति निरोध हो जाने पर वो प्रलयवस्था मान लो इसमें समानता नहीं ना ना दोनों में भिन्नता ये है एक तो बताए अवस्था बनाना और मन मेरे अधिकार में ये जड़ पदार्थ है मैं चला रहा हूं दोनों का प्रयोग कर सकते हैं आप प्रलयवत अवस्था भी बनाना और मन जड़ पदार्थ है मैं चलाता हूं ये प्रयोग दोनों के साथ साथ होने में कोई बाधा नहीं पड़ेगी परंतु जो प्रलवत अवस्था बना नहीं पाया आज तक इसको ले लो अकेले को आप समझे नहीं समझे वो बना ही नहीं पाया है प्रलवत अवस्था उसके दिमाग में ही नहीं बैठी है प्रलवत अवस्था और जड़ समझ के मन को रोकने की बात सोचता है कुछ तो भेद समझवाया समझ में आया होगा या नहीं आया है जी अंतर है ना एक व्यक्ति ने तो प्रलवत अवस्था बनाने का अभ्यास कर लिया सरलता से बना लेता और जब प्रलवावस्था बिगड़ती है तो तत्काल अवस्था बना डालता है और वो ये भी मानता है मन जड़ पदार्थ है मैं चलाता हूं इसको साथ जोड़ देता है तो प्रलवत अवस्था भी बनाए रखना मैं चलाता हूं इसको जोड़ना तो सरलता हो जाएगी दोनों को साथ जोड़ेंगे ना तो सरलता हो जाएगी और जब आप अकेली स्थिति को रखेंगे ना बिना प्रलवत अवस्था वाली को बनाए तो उस समय एक और स्थिति है ऐसे थोड़ा सा होते ही मन को मैं चलाता हूं और संसार को पर्लवत नहीं बनाया है तो आपकी स्थिति इतनी शीघ्र बिगड़ेगी एकाग्रता की बहुत तीव्रता से इसमें कारण आपके सामने हजारों विषय हैं नहीं समझे आप और उन सब से रोकना हजारों विषयों से रोकना और फिर एक विषय में लगाना अब दूसरी स्थिति देखो हमने प्रलय अवस्था बनाई तो हम भी गए और संसार भी गया ऐसी स्थिति का संपादन कर लिया अब हमें ओम सर्वरक्षक इस पर जमाएंगे तो वो विषय भाग भाग के जो तीव्रता से विद्युत की भांति चलते रहते वो नहीं होंगे तो आप प्रयोग करके देखते रहिए ये मतलब सभी समझ में आएगा प्रलय हो गया तो फिर सर्वरक्षक जो हम अर्थ करेंगे वो तो किसका रक्षक मानेंगे फिर मैं बताता हूँ आपने वैदिक धर्म को जाना माना कि हम जो जीवित हैं आज बैठे हैं और हमारे लिए जो शरीर दे रखा ईश्वर ने आंख नाक हम जो जीवित हैं हम ये मानते हैं कि हम जो जीवित हैं ईश्वर की ही सहायता से जीवित हैं यदि ईश्वर हमारे साथ न हो या ईश्वर की व्यवस्था न हो तो हम एक मिनट तक जीवित नहीं रहेंगे समझे पर याद रखना आज हम इस शरीर में बैठे हैं है जी तो शरीर हमारा विद्यमान है और विद्यमान रहते हुए अनुमान प्रमाण से इस शरीर को हम प्रलवत स्थिति में ले जाते हैं शब्द प्रमाण या अनुमान प्रमाण या नहीं समझे आप ऐसे ले जाएंगे हाँ, नया समझ में अनुमान प्रमाण से शब्द प्रमाण से देखो ये बालक है